अनन्य प्रत्यय गतिरत्र नास्ति अणियान हतर्कम अनुप्रमाणात अनु से भी अनुतर है अत्यंत सूक्ष्म है अंत में कहा था तर्क्यमाणे अनुपरिमाणे केनचित स्थापित आत्मनि तत्व ही अनुतरम अन्यु अभिव्यति अत्यंत सूक्ष्म वस्तु आत्मतत्व ऐसा कोई अणुतर अनुपरिमाण कहने पर कोई कहता और सूक्ष्मतर अनुतरम अन्य कहता है फिर और कोई तार्किक आकर कहेगा और अनु है अन्यो अनुतमम इसी कुतर्क से निष्ठा क्वचिन न विद्यते कुतर्क है कुत्सित तर्क तर्क की आवश्यकता है श्रुति अनुकूल तर्क से श्रुति प्रमाण है मुख्य श्रुति प्रमाण से जो कहा गया कैसे संभव है श्रुति में कहा गया तो जरूर प्रमाण है किंतु श्रुति में कहा गया नेह नानास्ति किंचन अनेक है ही नहीं किंतु प्रत्यक्ष की दिखता है और श्रुति कहती है जीव ब्रह्म की एकता तत्वमसि जीव दिखता है मैं अल्पज्ञ अल्प श्रुतिमान जगत कारण ब्रह्म के साथ एकत्व कैसे होगा ये कैसे संभव है ये संभावना बुद्धि के लिए तर्क की आवश्यकता है श्रुति मूल प्रमाण है प्रमाण जब कहा गया तो यथार्थ है किंतु कैसे संशय निवृत्ति होगी उसके लिए तर्क श्रुति के अलग करके केवल तर्क अपने कल्पना करे तर्क करेंगे कभी श्रुति विरुद्ध भी तर्क होगा उसको कहते कुतर्क कुत्सित तर्क कुतर्क अपने मन से कल्पना करे जो तर्क है उसकी निष्ठा कहीं नहीं है स्थिर नहीं होती तर्क प्रतिष्ठा नहीं कहीं एक तरफ रह गई फिर कोई तर्क करने के फिर आगे बढ़ गया इसको निषेध कर दिया वाक्यपदीय में भर्तृहरि ने कहा है यत्ने नानमितोप्यर्थः कुशलैरनुमात्रिभिः अभिउततरैरन्यैरन्यतेवोपपाद्यते यत्नेनापि अनिमितोप्यर्थः कुशलैरनुमात्रिभिः कुशल अनुमान करने वाले तर्क में कुशल अनुमात्री कुशलैरनुमात्रिभिः यत्नेन अनिमितोप्यर्थः यत्न पूर्वक अनुमान से जो सिद्ध किया गया बड़े-बड़े तार्किक अनुमान करने बड़े कुशल है तर्क कुशल ही अनुमात्र भी जो भी किया गया था किंतु उससे आगे अभियुक्ततर अन्य अन्य जो तर उससे अधिक तार्किक हो अन्यथेव उपपाद्यते अन्यथा अन्य प्रकार से उसका प्रतिपादन करते नानुमित प्यर्थः कुशलेर अनुमात्रिभिः अभियुक्ततरेरन्ये रण्यतेव उपपाद्यते महाभारत में आया भीष्म पर्व में अचिंत्या खलु ये भावा न तांस्तर्केषु योजयेत जो पदार्थ अचिंत्य है उनको तर्क से सिद्ध करने के ना तर्क के आधार पर नहीं होगा श्रुति प्रमाण है श्रुति प्रमाण से ईश्वर का निश्चय होने के बाद उसकी कैसे ईश्वर सिद्ध करने के लिए तर्क ठीक है ये नहीं कि पहले तर्क के आधार पर अनुमान के द्वारा ईश्वर सिद्ध कर देंगे न्याय के लोग कहेंगे पहले ईश्वर सिद्ध कर देते अनुमान से बाद में कहेंगे श्रुति में कहा गया ईश्वर सिद्धि के लिए अनुमान कति क्षित्य अंकुरादिकम कर्तृजन्यम कार्यत्वात् घटवत जितने कार्य उनका कोई करता होता है ये पृथ्वी आदि जितना अंकुर आदि अंकुर बनते हैं ये भी कार्य होने से उसका कोई कर्ता हो होना चाहिए सकर्तृ का तो कर्तृक सकर्तृ का तो सिद्ध हो जाएगा उसका कर्ता है मकान में बड़े-बड़े प्रसाद बनता है तो बहुत लोग मिलकर बनाते हैं इसी प्रकार जगत बनाने के लिए बहुत कर्ता भी हो सकते हैं सकर्तृ का तो सिद्ध होगा कर्तृजन्य कर्ता से होता किंतु कर्ता एक एक कैसे निश्चय होगा एक ही कर्ता सिद्ध होगा तो ईश्वर होगा अनेक मिलकर बनाएंगे तो ईश्वर कौन होगा तो वहाँ आगे तर्क के आधार पर निश्चय नहीं वहाँ कहेंगे लाघवाद एक करता है अनेक कर्ता कल्पना करेंगे तो गौरव इसे लाघवाद एक कल्पना करना कल्पना करके लाघव गौरव से कल्पना करेंगे तो सारा पृथ्वी में एक ही मनुष्य है लाघवाद श्रोता भी एक है वक्ता भी वृक्ष जंगल में कितने है जंगल में वृक्ष कितने कितने एक या दो अनेक लाख बात एक कल्पना कर लो ये लाखों से सिद्ध जो ईश्वर होगा ये सौ तो ईश्वर सिद्ध नहीं होगा श्रुति प्रमाण से सिद्ध इसलिए रघुनाथ श्रवण ने कहा है विदुषाम निवहे रिहे कमत्याद यद दुष्ट निरटंकी यच्च दुष्टम मई जलपति कल्पनाधिनाथे रघुनाथ मनुताम तदन्यथ विदुषाम निवहैर मत्या विद्वान के समूह बड़े-बड़े बड़े-बड़े विद्वान निवहै विद्वान के समूह यह एकमत्या एकमत हो के यद अदुष्टम निरटंकी यच्च दुष्टम जिसको कहा है अदुष्ट दोष रहित है किस हेतु को बता दिया ये अदुष्ट है अथवा लक्षण बता दिया इसमें कोई दोष न अदुष्ट निरटंकी घोषणा उद्घोषणा की ये निर्दुष्ट है यच्च दुष्टम और किसको कहा है दुष्टम दो है एक अदुष्ट है और एक दुष्ट है दुष्ट है दो रघुनाथ श्रवण कहते मई जलपति कल्पना कल्पनाधीनाते कल्पना के अधिनाथ रघुनाथ हम हम जब कहेंगे मनुथाम तद अन्यतेव बड़े-बड़े विद्वान जिसको निर्दुष्ट कहा है उसमें हम दोष निकाल देंगे और जिसको कहा दुष्ट है दोष है उसको हम निर्दुष्ट सिद्ध कर देंगे तर्क के आधार पर तर्क के आधार पर अधिक तर्क करने वाले तो दूसरे लोग परास्त हो जाएंगे इसलिए तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है तर्क का प्रतिष्ठानाथ व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र भी बनाया इसलिए अतर्क इसको कहा गया केवल तर्क से सिद्ध नहीं होगा अपने बुद्धि से कल्पित तर्क केवल तर्क से नहीं होगा हां श्रुति प्रमाण से अर्थ सिद्ध है उस से संभव है उसके लिए तर्क की आवश्यकता है अतो अनन्य प्रोक्त आत्मनि उत्पन्ना येयम आगम प्रतिपाद्य आत्ममतिर अनन्य प्रोक्त अभिन्न आचार्य से कहने पर जो ज्ञान होता है आगम प्रतिपाद्य आत्मबुद्धि आगम प्रतिपाद्य आत्मबुद्धि उसके लिए आगे कहते नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्य नैव सुज्ञानाय पृष्ठ यां त्वमाप सत्यधृतिर्वतासि तादृं नो भूया नचिकेत प्रष्टा ऐसा मति तर्केण न आपने या ये बुद्धि तर्क से प्राप्त नहीं होती केवल तर्क से आगम प्रमाण को पीछे करके अपने बुद्धि से कल्पित कल्पन तर्क के द्वारा ऐसे आत्म बुद्धि की प्राप्ति नहीं होती है उसका दूसरे अर्थ करेंगे मते न या प्राप्त नहीं होती अथवा न हापनया ऐसी बुद्धि का त्याग भी नहीं होगा श्रुति प्रमाण से जिसको ऐसे निश्चय हो जाता है ब्रह्म ज्ञान जितने तर्क कुतर्क करेंगे तो तर्क से बुद्धि की निवृत्ति नहीं होगी जितने तर्क करने पर भी बुद्धि की निवृत्ति नहीं होगी तर्क से ये बुद्धि विचलित नहीं होगी मन में एक बार स्थिर हो गया आत्मबुद्धि स्थिर हो गया उसके निवृत्ति नहीं हो सकती प्रोक्ता अन्य नैव सुज्ञानाय पृष्ठ अन्य न अवर जो पहले कहा था अवर निकृष्ट उससे अतिरिक्त जो आत्मनिष्ठ है ब्रह्म ज्ञानी है उनसे कहने पर सुज्ञानाय भवति हे पृष्ठ प्रियतम प्रिय स्थिर स्पिर बहुल प्रिय को प्रादेश होता है स्टन करने पर पृष्ठ प्रियतम याम त्वम आप जिस बुद्धि को तुमने प्राप्त कर ली याम त्वम आप अभी उपदेश नहीं हुआ उपदेश करेंगे किंतु वर प्रदान से उपदेश करना है और जो आचार्य प्रश्न होकर उपदेश करते हैं अधिकारी भी अत्यंत विरक्त है जितने भी प्रलोभन करने पर भी वो मोहित नहीं हो पाया तो उसको अवश्य ज्ञान हो जाएगा इस अभिप्राय से कहते याम तुम आप तुमने प्राप्त कर लिया उपदेश करें तो अवश्य ही ज्ञान होगा अनन्य प्रत्यय गतिरत नास्ति आया था गतिरत नास्ति अनन्य प्रत्यय अगतिर नास्ति ऐसे अर्थ क्या ऐसे आचार्य से कहने पर अगति नहीं अज्ञान नहीं अवश्य ही ज्ञान होगा इसे अभिप्राय से कहते तुमने प्राप्त कर लिया अभी उपदेश भी नहीं हुआ किंतु कहते तुम आप प्राप्त कर लिया सत्य धृतिर बतासी सत्या धृति जैसे सत्य धृति धैर्य वाले तुम हो इसलिए अबत तो अनुकंपा करके कहते त्वाद्रिंग तो न भूया नचिकेता प्रष्टा आचार्य प्रसन्न हो जाते इस योग्य शिष्य प्राप्त होने पर कहते हैं नचिकेता त्वाद्रिंग तो प्रष्टा न भूया तुम्हारे जैसे शिष्य हमको मिले प्रष्टा है प्रश्न करने वाला तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया शिष्य आचार्य की सेवा करके प्रणिपात करके प्रश्न करके ज्ञान प्राप्त करता है तुम्हारे जैसे प्रश्न पूछने वाला हमको भूया तो ही में प्राप्त हो बहुत लोग सोते ब्रह्म ज्ञान हमको मिल जाए गुरु बनाएंगे ढूंढते हैं पता नहीं चलता है कैसे ब्रह्म ज्ञानी कौन है और वो जो ज्ञानी है वो चाहते कोई योग्य अधिकारी मिले हम ज्ञान प्रदान करेंगे योग्य अधिकारी भी दुर्लभ है जैसे ज्ञानी दुर्लभ है ऐसे योग्य अधिकारी भी दुर्लभ है वक्ता भी आश्चर्य है और श्रोता भी कोई कोई होता है कोई प्राप्त कर सकता है तो आचार्य प्रसन्न होकर के कहते तो आदृंग न अस्माकम हे नचिकेता तुम्हारे जैसे प्रष्टा शिष्य हमको मिले अर्थात ऐसे अधिकारी भी दुर्लभ है अतो अनन्य प्रत्यय आत्मनीय है अनन्य न अभिन्न आचार्य ने कहने पर जो आगम प्रतिपाद्य आत्मबुद्धि होती नहीं तर्केण मतिरापन ये बुद्धि तर्क से स्वबुद्धि अभिमात्रेण बुद्धि कल्पित तो केवल तर्क मात्र से हाँ श्रुति प्रमाण से तर्क सहाय होगा असंभावना निवृत्ति के लिए तब तो ठीक है और श्रुति प्रमाण नहीं केवल तर्क मात्र न तर्क मात्र से ही प्राप्त न नहीं हो सकते न आपनिया न प्रापणिया न आपनया का अर्थ न वा वा न हातव्या न आपनया वा न हातव्या वाक त्याग त्याग नहीं इसे आत्मज्ञान होने पर तर्क करने पर बुद्धि नष्ट होगी ऐसा नहीं है खंडन खंड का ने कहा अतो धीधना बाधनायाश्च तदा प्रज्ञा प्रयच्छत क्षेप्तम चिंतामणि हस्तलब्ध अब्धौ यदिच्छसि यदिच्छत हे धीधना खंडन अद्वैस खंडन खटकादि ग्रंथ में श्रीहस्त ने कहा हे धीधना धी है धन जिनका बुद्धि है जिनका धन विद्वान का धन है बुद्धि है बुद्धि चतुर बुद्धि नहीं अत्यंत कुशल बुद्धि निपुण बुद्धि है धन धीधना अस्य बाधनाय तदा प्रज्ञा प्रयच्छत जो श्रुति अर्थ सिद्ध अद्वैत बुद्धि है शौत के दर श्रुति प्रमाण से होती अद्वैत बुद्धि उसका बाध करने के लिए निषेध करने के लिए तदा प्रज्ञा प्रयच्छत तभी बुद्धि को लगाओ बहुत लोग दुराग्रह के कारण द्वैत सत्य है अद्वैत नहीं है अद्वैत का खंडन करने के लिए बड़ा जोर लगा कर सारा जीवन बिता देते हैं अद्वैत का खंडन करके खंडन करते करते ये सोचते हैं कि हम विद्वान हो जाएंगे नाम हमारा जाएगा ये सब मत पहले अनादिकाल से सब है सारे मत का खंडन मंडन सब है ही उसको करने के लिए जीवन को नहीं समाप्त करना प्राप्त करना है सत्य को जानना चाहिए तो कहते तुम इसी बुद्धि को बाध करने के लिए तब लगाओ प्रज्ञा प्रयच्छत बुद्धि को लगाओ अद्वैत बुद्धि को बाध करने के लिए तब कब लगाना यदि हस्तलब्धम चिंतामणि चिंतामणि अब्धम अब्धौ क्षेप्तुम इच्छति हाथ में चिंतामणि आने के बाद उसको यदि समुद्र को फेंकना चाहते हो बड़े चिंतामणि धन जो चिंतन कर मन में सोचे हुए मिल जाएगा ऐसे को प्राप्त करने के बाद यदि उसको समुद्र में फेंकना चाहते हो तब तुम ये अद्वैत बुद्धि खंडन करने के लिए दिमाग को लगाओ अतः इतने दुर्भाग्य यदि तुम्हारा हो जाए अत्यंत दुर्भाग्य तब अद्वैत बुद्धि का खंडन करो अद्वैत का खंडन करने के लिए प्रयास करता है वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है दुर्भाग्यम दुर्भाग्य श्रीहर्ष ने सतर्क कर दिया खंडन करे बोला तुम इसका निषेध करने के लिए तब दिमाग लगाओ जब चिंतामणि प्राप्त हुआ हस्त में समुद्र फेंकना समुद्र फेंक दिया तो फिर दोबारा मिल जाएगा नहीं सब प्राप्त होने के बाद इसको खंडन करना चाहते हो इसलिए तर्क से खंडन नहीं हो सकता है को अद्वैत बुद्धि का निराश कोई नहीं कर सकता है जिसको ज्ञान हो गया और कोई नहीं इसका नाश कर सकता है तार्किको ही अनात्मज्ञ सब बुद्धि परिकल्पितम देव कथयति ये तर्क के आधार पर शास्त्र श्रुति को प्रमाण नहीं मान करके अर्थात श्रुति प्रमाण की अपेक्षा तर्क को अधिक मान करके जो बुद्धि कल्पित तर्क से कुछ करना चाहता है वो तार्किक ही अनात्मज्ञ आत्मज्ञ नहीं है अनागमज्ञ आगम शास्त्र आगम प्रमाण को नहीं जानने वाला श्रुति प्रमाण को नहीं जानकर आगम के तात्पर्य को नहीं समझने वाला केवल तर्क से अर्थ सिद्ध करता है तो सब बुद्धि परिकल्पितम किंचिदेव कल्प कथयति अपने बुद्धि से कल्पित कुछ कल्पना कर लेता है बुद्धि से कल्पना कर लेते कहते आकाश की उत्पत्ति कैसे हो सकती इतने बड़े आकाश कहते प्रलय काल में आकाश भी नहीं रहेगा सबका तो प्रलय हो जाएगा ठीक है आकाश कहाँ जाएगा आकाश नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा क्या बड़ा पेड़ खड़ा हो जाएगा और दिमाग में नहीं है तो आकाश कहाँ जाएगा आकाश क्या कैसे प्रलय बड़ा कठिन तर्क पढ़ने वाले बिल्कुल डांट कर कहेंगे आकाश कहाँ चल जाएगा खाली इसे कहते हो और सपने में भी आकाश दिखता है जगने के बाद सपना पदार्थ कुछ रहते है क्या आकाश तो रहता है सपने के पदार्थ मकान पर्वत आदि जगने के बाद बड़े-बड़े पर्वत स्वप्न में देखा समुद्र देखा जगने बाद रहते या चले जाते हैं रहते हैं ना नहीं रहते किंतु आकाश स्वप्न में जो आकाश देखा वो आकाश तो रहता है आकाश रहता है वो कहाँ जाता है समुद्र पर्वत चले गए कोई बात नहीं स्वप्न का आकाश कहाँ जाएगा जो आकाश मिथ्या है पर्वत समुद्र मिथ्या है नहीं रहते तो आकाश नहीं रहेगा मिथ्या हो तो नहीं रहने की आपत्ति है बड़े तर्क करते ये आका ये जो आकाश अभी है वो कैसे कहां चढ़ जाएगा मिथ्या हो तो कहां रहेगा मिथ्या वस्तु तो अधिष्ठान ज्ञान से उसका अभाव सिद्ध है इससे कुछ ना कुछ कल्पना कर लेता है कि आकाश की उत्पत्ति आकाश का नाश नहीं हो सकता है सब बुद्धि परिकल्पितम देव कुछ ना कुछ कहता है आगम प्रमाण से आकाश की उत्पत्ति जब सिद्ध है तो हो नहीं सकता दृष्टांत है सामने स्वप्न प्रपंच सब का अभाव होता है आकाश का भी इसी प्रकार भी जागृत प्रपंच जो दिखता है यदि समुद्र पर्वत सूर्य चंद्र नक्षत्र ये भी सब कल्पित है प्रलय काल में नहीं रहेंगे तो आकाश नहीं रहने में क्या आपत्ति है मिथ्या वस्तु होने से ही वास्तव वस्तु हो तो क्या जाए कहां जाएगा वास्तव यदि तो तोड़ेंगे तो उसका कुछ अवयव रहेगा उसको तोड़े तो अवयव रहेगा समाप्त कहाँ कहां होगा वास्तव वस्तु है तो कोई पदार्थ उसका अवयव रहता है हाँ कल्पित है रज्जु में सर्प जैसे कल्पित है रज्जु के ज्ञान होने पर पूरा पूरा सर्प का अभाव होता है थोड़ा थोड़ा रह जाता है रज्जु ज्ञान होने पर सर्प तो चला जाएगा किंतु उसका जो विषा विष रज्जु में तो थोड़ा रह जाएगा या कुछ रहेगा सर्प का गंध कुछ रह जाएगा कुछ नहीं सर्प था ही नहीं जल मरुभ में जल दिखता है मरुभ में दिखने के बाद जल तो नहीं रहेगा किंतु इतने देर से जल था वो गीलापन तो रह जाएगा मिथ्या वस्तु नहीं तो कुछ नहीं रहता ज्ञान होते ही समाप्त हो गया इसलिए ये बुद्धि कल्पित तो कुछ ना कुछ कल्पना करते हैं आगम प्रमाण से अर्थ सिद्ध होता है अतएव च येयम आगम प्रसुतामतिर आगम प्रमाण से उत्पन्न होती जो ज्ञान प्रमाण से ज्ञान होता है प्रमाण है तत्वमसि आदि महावाक्य आगम श्रुति वाक्य श्रुति प्रमाण से जो बुद्धि की उत्पत्ति होती बुद्धि होती है मति अन्य नैव प्रोक्त अन्य नैव सुज्ञान है पृष्ठ अन्य नैव तार्किक से अन्य आगमाभिज्ञान आचार्य न तार्किकात तार्किकात अन्य तार्किक से अपने केवल बुद्धि से तर्क करने वाले से उपदेश से ज्ञान नहीं होगा तार्किकात अन्य नैव तार्किकाद अन्य कौन होता है आगम अभिज्ञ आगम प्रमाण में जो अभिज्ञ आगम प्रमाण के तात्पर्य जानने वाले तात्पर्य को समझ करके साक्षात्कार करने वाले आचार्य नेव प्रोक्ता सति सुज्ञानाय भवति सृष्टि ज्ञान साक्षात्कार के लिए होता है सम्यक लाभाय होता है भवति हे पृष्ठ प्रियतम का पुनः सा तर्कागम्याम तर्क से अगम्य जो बुद्धि आगम प्रमाण से होती है वो बुद्धि कौन क्या है कौन सी बुद्धि जो नैसा मति तर्कना आपनिया तर्क से प्राप्त नहीं होती अथा तर्क से उसका त्याग भी नहीं हो सकता है ऐसे बुद्धि कौन है जो तर्कागम्य तर्कगम्य नहीं है आचार्य कहते याम तुम आप याम अतिम मद वर प्रदानेन आप प्राप्तवानसी जो बुद्धि को प्राप्तवान तुमने प्राप्त कर ली मत वर प्रधान मेरे वर प्रधान से वर प्रधान मात्र से तीन वर मांगा था ने तीन वर देने के लिए कहा था प्रतिज्ञा यमराज जी की उसके वर के तृतीय वर रूप से मांगा आत्म आत्म आत्मज्ञान उसको प्रलोभन प्रलोभन करने पर भी वो नहीं चाहते उसको कही तो वर प्रधान से आचार्य उपदेश करने ज्ञान हो जाएगा इस अभिप्राय से कहा आप प्राप्तवानसी प्राप्त कर लिया सत्याधृत सत्य देति सत्य अवितत विषय धृतिर्यस्य सत्य है अवितत सत्य का अर्थ अवितत उसको विषय करने वाला धृति धैर्य दृढ़ निश्चय करके सत्य ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए तुम्हारे धर जाए तुम सत्य धृति बतासी इति अनुकंपयना बतसद तो अनुकंपा के लिए कहते हैं कृपा करके कहते अनुकंपयना सत्य धृति बतासी या याम त्वम मति मदवर प्रदान आप प्राप्तानसी सत्यावि तत विषय धृति यस्य तव सत्वम सत्य धृति मत अनुकंपा अत असीति अनुकंपा ना मृत्युर नचिकेतसम वक्षमान विज्ञान स्तुतये मृत्यु आ आ कहने वाले कौन मृत्यु यमराज कहते हैं इसको सम नचिकेता कहते किसलिए वक्षमान विज्ञान है आगे उपदेश करें ज्ञान और ज्ञान की स्तुति के लिए कहते तुम ऐसे अधिकारी ही उसको ही प्राप्त होती है बुद्धि प्राकृत बुद्धि वाले को नहीं शिष्य गुणोक्त्या विद्या की स्तुति शिष्य के गुण कथन करके ज्ञान की स्तुति के लिए कहते हैं तो आदृक अर्थ तत्तुल्यो नह का तस्मभ्यम भूयात का हो तो तुम्हारे जैसे हमारा हमको प्राप्त हो अन्य पुत्र शिष्य वा पुत्र अथवा शिष्य ना पुत्राय ना शिष्याय मतिन तद्यात जो पुत्र नहीं हो शिष्य ने उसको बुद्धि प्रदान नहीं करे शिष्य ही ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिकारी है शिष्य भी पुत्र तुल्य पुत्र भी शिष्य तुल्य तो पुत्र अत्यंत प्रिय होता है अथवा शिष्य ऐसे पुत्र शिष्य जो अधिकारी है ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम्हारे जैसे पुत्र अथवा शिष्य अन्य मिले हमको प्रष्टा पूछने वाला ऐसे प्राप्त हो तो हम उपदेश करें ज्ञानी चाहते उपदेश करने के लिए किसको ज्ञान प्राप्त हो जाए और सेवा करना साधन है सेवा करते करते करते अंत में वो निष्ठा को प्राप्त कर लिया ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मात्मन अवस्थान हो गया तभी आचार्य से जो उपदेश प्राप्त करते ऋण मुक्त तभी होता है निष्ठा की प्राप्ति के बिना कुछ भी करे ऋण मुक्त नहीं है आचार्य के उपदेश से जो अनऋणी ऋणी ऋण है ना अंत में पूरा तद्रूपेण अवस्थान उपदेश सफल होता है तभी उपदेश यदि सफल नहीं कर पाए शिष्य तो ऋणी बनता है ऋण से मुक्त हो नहीं सकता है धन सेवा करके धन संपत्ति दे करके कुछ भी करके तद्रूपेण अवस्थान तो कृतार्थ होना चाहिए आचार्य भी चाहते हैं उपदेश सफल होता है ऐसे शिष्य निष्ठा को प्राप्त करे तो खुश होकर कहते तुम्हारे जैसे शिष्य अथवा पुत्र हमको मिले केदरिक यादृक त्वम हे नचिकेता प्रष्टा जैसे तुम पूछने वाले हो पूछने वाले खाली प्रश्न करने से नहीं प्रलोभित नहीं होकर के और कुछ नहीं चाहते हो उसी को ही चाहते हो विवेक करने वाले इतने सब कुछ दिखाया देने के लिए कहा कुछ नहीं चाहिए ए विरक्त है कुछ नहीं चाहिए उसको जानना और जिसको जिज्ञासा है जानने की इच्छा से इतने दृढ़ निश्चय है और कुछ नहीं चाहिए उसको ही प्राप्त करना टीका में मया जानता पे बहुआयासम कर्म कृतम तम दीयमानमपि तत्फलम न गृणाति मत्तो अधिक प्रज्ञोसी इति संतोषात् स्तौतेत्या यमराज और स्तुति करते हैं तुम्हारे मेरे से बुद्धि अधिक है तुम्हारी यमराज कहते मया जानता अपि भवायासम कर्म कृतम मैं जानता हूँ जान कर भी कर्म से नित्य फल प्राप्त नहीं होगा कर्म प्राप्त फल नित्य नहीं है जानते हुए भी ये मैं कर्म किया ये पद प्राप्ति के लिए बहुआयासम कर्म बहुत आयस जिसमें बहुत कर्म उपासना करने से याम्य पद प्राप्त होता है ये सब अधिकारी पद यम पद को इंद्र पद व्यास पद आदि ब्रह्मा आदि बहुत उपासना करने से पद प्राप्त होता है और कर्म उपासना से उपासना भी के मानस कर्म उससे जो प्राप्त होता है फल अनित्य ये ये जानते समझते हुए भी इस पद प्राप्ति के लिए मैंने कर्म किया भवाय कर्म कृतम किंतु तुम तो कैसे दीयमान अपनत्वात् फलम न गृह्णाति ऐसे में दे देना चाहते हो जो फल तुम चाहते हो ले लो सब प्रकार अन्य उपासना अन्य कर्म अन्य फल सब देने पर भी तुम ग्रहण नहीं करते हो मैं तो जैस की इच्छा से कर्म किया बड़े प्रयत्न किया बहुत प्रयत्न कर प्राप्त किया तुम देने पर नहीं ग्रहण करते हो मत तो अधिक प्रज्ञोसी इति मत मेरे से अधिक प्रज्ञा ऐसे स अधिक प्रज्ञा अधिक बुद्धि वाले तुम हो इति संतोषास्तौति संतोष होकर प्रसन्न होकर के एवराज स्तुति करते हैं शिष्य की बुद्धि अधिक हो आचार्य प्रसन्न होते हैं बहुत खुश होते हैं ये नहीं कि मेरे से अधिक आगे बढ़ जाए करके उसको रुकना कोई कहते पढ़ाते समय कुछ कुछ छोड़ देना है नहीं तो पूरा पूरा ले लेगा शिष्य पूरा ले लेगा तो अपने धन खाली हो जाएगा ये धन का जो भंडार विद्या धन है देने पर खाली हो जाता है ना एक ही धन ये विद्या देने पर बढ़ती है खाली नहीं और आगे कहाँ बढ़ जाएगा यदि आचार्य ज्ञान ही शिष्य को ज्ञान हो जाएगा ज्ञान हो गया तो ब्रह्म ज्ञान हो गया तो आगे पीछे किया है आपको यदि ज्ञान है तो आपसे भिन्न कुछ है ही नहीं कौन आपके आगे जिसको ज्ञान नहीं हो आता है वो देखता है मेरे से आगे बढ़ गए शास्त्र में थोड़ा समझ रहा था अधिक हो गया उनको जो उनको ज्ञान नहीं हो लोग यही देखते हैं उसकी बड़ी पूजा होती वो बड़े प्रसिद्ध हो गया तो अपने निकृष्ट हो जाता है यही बार-बार ये सब विचार करके दुखी रहते सब जो अपने स्वरूप स्थिति में शांत है आगे कौन बढ़ेगा ये पूजा हो जाए सारा ब्रह्म ब्रह्मा पद को भी उनिकृष्ट समझ करके जो साधन करेगा वही आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है और थोड़ी मान प्रतिष्ठा धन संपत्ति को उसे महत्व बुद्धि रखेगा तो ब्रह्म ज्ञान क्या प्राप्त करेगा साधन भी नहीं कर सकता है इसलिए कोई आगे यदि ज्ञान प्राप्त कर लिया तो ईर्षा आदि नहीं गुणी न गुणिसु मत्सरो गुणवान होने में मत्सर नहीं आगे कौन बढ़ जाए खुश होते हैं शिष्य योग्य जी तो अधिकारी कुछ प्राप्त कर लेता है बहुत शास्त्र ज्ञान अधिक होता है तभी खुश होते हैं अब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो बहुत खुश होते मत तो मत तो अधिक प्रज्ञा सिद्धि मेरे से भी बुद्धिमान तुम कह करके संतोष से और स्तुति करते हैं पुनरपि तुष्ट फिर तुष्ट संतोष होकर के आचार्य कहते हैं यमराज जानाम्य हम सेवधिरित्य नित्यम नहि नहि ध्रुवे प्राप्यते हि ध्रुवम तत ततो मया नाचिकेतश्चितो अग्ने रिद्रव्ये प्राप्तवानस्मि नित्यम जानामि अहम सेवधिरिति अनित्यम जा, अहम जानामि सेवधिर अनित्यमिति सेवधिय निधि ये कर्म फल रूप जो निधि है निधि धरोहर धन संपत्ति रखते हैं निधि धन संपत्ति बहुत है तो चाहते हैं यह भी कर्म फल निधि के समान है सेवधि का तो निधि निधि के समान है सब लोग चाहते कर्म फल किंतु मैं जानता हूं यह कर्म फल अनित्यमिति जाना मैं हम अन अनित्यम यदा सेवदीर अनित्यम इति ये निधि के समान सेवदी कर्मफल कर्मफल अनित्य ऐसा मैं जानता हूं क्यों अनित्य है नहीं अध्रुवे प्राप्यते ही ध्रुवम तथ अध्रुव स्वयं जो अनित्य है कर्म उनसे नहीं प्राप्यते ध्रुवम नित्य फल प्राप्त नहीं होगा अनित्य कर्म से नित्य ब्रह्म पद आनंद नित्य पद प्राप्त नहीं हो सकता है ऐसा जानते हुए भी तत्वमया नाचिकेतस से नचिकेत संबंधी नाचिकेत चितोग्नि नचिकेत संबंधी अग्नि चयन मैंने किया जानते हुए भी ये कर्म प्रणित तो जानते हुए ये कर्म किया उपासना तो उसी के कारण में यम पद को प्राप्त किया अनित्य द्रव्य प्राप्तवान अस्म नित्यम अनित्य द्रव्य से कर्म नाचिकेत अग्नि करके उपासना करके प्राप्तवान अस्मिन् नित्यम नित्य को प्राप्त किया नित्य का तो आपेक्षिक नित्य है नित्य नहीं है यम पद में हूँ सारे लोग जैसे मरते मरते जा बार-बार ऐसे मैं नहीं दीर्घ काल रहता हूँ उसकी अपेक्षा नित्य शब्द आपेक्षिक नित्य है तो मैंने कैसे कर्म करने से इस पद को प्राप्त किया हूँ इस पद को प्राप्त तो इस पद में हूँ करके अपने गर्व नहीं है यहां व्यर्थ में इतने कर्म कर इस पद को प्राप्त किया जानते हुए भी मैंने काम किया इस पद में स्थित हूँ इसको नित्य समझते कोई कोई लोग तो नित्य नहीं है आपेक्षिक नित्य का और तुमको देने पर भी नहीं लेते हो तो ये जो कहा मेरे से बढ़कर बुद्धिमान इसे अभिप्राय से स्तुति करते हैं जाना में हम सेवदिर निधि सेवदिका त निधि निधि का कौन है या निधि कर्म फल लक्षण कर्म फल निधि के समान उसको सेवधि निधि सेवधि का अर्थ निधि निधि क्यों कहते हैं निधिरेव प्रार्थते देती निधि जैसे सब चाहते धन संपत्ति इसे कर्म फल सब चाहते निधि के समान चाहते इसे कर्म फल को निधि कहा मैं जानता हूं अनित्य करके अस्वनित्यम अनित्य इति जानामि वह कर्म फल रूप जो निधि है अनित्य ऐसे मैं जानता हूं नहीं अध्रुवे प्राप्यते तद्रुवम ही कहते यस्मात् क्योंकि अध्रुवे ही अनितेर अध्रुवे नित्यम ध्रुवम तत्प्राप्य नहीं प्राप्यते नहीं अध्रुवे ही अध्रुव का अनित्य अनित्य से नित्य ध्रुव पद की प्राप्ति नहीं होती है इसलिए कर्म फल उपासना का फल कुछ भी हो अनित्य ही है ये मैं जानता हूँ परमात्मा आख्यते वधि यस्त्व अनित्य सुखात्मक हां नित्यम ध्रुवं प्राप्यते ध्रुव नित्य कौन है परमात्मा के सेवदी परमात्मा नाम को जो सेवदी निधि है वो नित्य है अनित्य साधन से प्राप्त नहीं होता है नित्य आत्मस्वरूप यो कर्म जितने करने पर क्रिया साध्य नहीं है ज्ञान से प्राप्त होता है कर्म से नहीं है भ्रांति रहती पहले कर्म उपासना करते हैं लता ज़्यादा कर्म उपासना करने से प्राप्त हो जाएगा कर्म उपासना अंतकण शुद्धि के लिए आवश्यक है ठीक है किंतु ये क्रिया साध्य नहीं है अनित्य से प्राप्त नहीं होता है केवल ज्ञान से उसका आवरण की निवृत्ति होती है नित्य वस्तु की प्राप्ति वो अप्राप्त नहीं नित्य नित्य प्राप्त है नित्य प्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए किसी भी क्रिया की आवश्यकता नहीं केवल भ्रांति निवृत्ति चाहिए नित्य जो प्राप्त है उसमें अप्राप्त का भ्रम हुआ अप्राप्त भ्रम के लिए ज्ञान चाहिए कर्म उपासना से नहीं इसलिए जो परमात्मा क्या सेवदे नित्य है वो अनित्य कर्म उपासना से प्राप्त नहीं होता है मैं जानता हूं यस्तु अनित्य सुखात्मक सेवदी सैव अनित्य द्रव्य प्राप्यते जो अनित्य है सुख रूप है सेव निधि के समान है वो अनित्य द्रव्य से प्राप्त होता है अनित्य द्रव्य से अनित्य सुख आत्मक प्राप्त होगा अनित्य सुख नित्य ध्रुव पद प्राप्त नहीं होता है यत तत तस्मान मया जानता भी मैं जानते हुए कर्म किया नित्यम अनित्य साधे न प्राप्यते थी अनित्य साधन से नित्य सेवदी आत्मतत्व परमात्मा उसकी प्राप्ति नहीं होती है ऐसे जानते हुए भी नाचिकेत चित अग्नि हे नाचिकेत अग्नि का चयन मैंने किया उसके नाम पर अग्नि का नाम हो गया पर दे दिया नाचिकेत चित अग्नि अनित्य द्रव्य पशु आदि भी मैं नित्य प्राप्त किया अनित्य द्रव्य से ही ये कर्म किया पशु आदि से स्वर्ग सुख साधन भूतो अग्नि निर्वर्तित स्वर्ग सुख का साधन है अग्नि विद्या ऐसे अग्नि कर्म उपासना आदि सब मैंने किया जानता हूँ ये कर्म से अनित्य फल प्राप्त होगा नित्य की प्राप्ति नहीं होती है तो भी जानते हुए भी मैं ऐसे किया वासना से प्रेरित होकर के पूर्व वासना के कारण प्रेरित होकर करता है बाद में ज्ञान प्राप्त होता है यमराज ज्ञानी थे किंतु उपासना के कारण परमात्मा प्रसन्न होकर वर प्रदान दिया था पहले तो परमात्मा की कृपा से फिर इसको यम पद में रहना पड़ा तेन हम अधिकारापन्नो नित्यम याम्यम स्थानम स्वर्गाख्यम नित्यम आपेक्षिकम प्राप्तवान अस्मि इसे अधिकारापन अधिकार को प्राप्त हुआ ये कर्म करने से इसलिए नित्यम याम्यम स्थानम यम के संबंधी याम्य स्थान स्वर्गना स्वर्गाख्यम नित्यम नित्य कैसे हुआ आपेक्षिकम नित्यम वास्तव नित्य नहीं है एक अद्वितीय ब्रह्म को छोड़ करके कुछ भी नित्य नहीं है इसलिए यम पद भी नित्य नहीं है यम इंद्र आदि पद एक अधिकार है नित्य नहीं है तो मैंने कर्म किया तो ये प्राप्त हो क्या आपेक्षिक नित्य प्राप्तवान अस्मि मैंने प्राप्त किया जानते हुए जिसको तुम देने पर भी नहीं लेते हो फिर वे और स्तुति करते हैं कामस्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठां क्रतोरनन्यत् अभयस्य पारं महदुर्गायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतोऽत्यत्राक्षयेहि कामस्याप्तिं काम की समाप्ति सब काम समाप्त ज्ञान होने पर सब समाप्त हो कोई कामना नहीं रहती है सारे कामना की समाप्ति अंत में जगत प्रतिष्ठा सारे जगत की प्रतिष्ठा है सर्वात्मक ब्रह्म ही सारे जगत ब्रह्मांड की प्रतिष्ठा अधिष्ठान है क्रतुर अनन, अनंत्यम क्रतु है क्रतु शब्द से कहीं यज्ञ भी कहते उपासना हिरण्यगर्भ उपासना हिरण्यगर्भ उपासना इस अवश्य में थोड़ी आई थी उपासना का हाँ, जो फल है वो क्रतु हिरण्यगर्भ पद क्रतुर अनंत्यम वो अनंत अनंत्य पद है ये और अभय से पारम अभय के परानिष्ठा स्तोम महत उरुगायम प्रतिष्ठा स्तोम है स्तुत्य महत है बड़े पद है अनेक गुणयुतों से स्तुत्य उरुगायम उरुगाय विस्तीर्ण गतिम ऐसे दृष्टवा धृत्या धीर नचिके तो अत्यसाक्षी इसको देख करके समझ करके भी तुमने धैर्य के साथ इसको त्याग कर दिया जिस पद को मैं सर्वोत्तम पद हिरण्यगर पद यम पद आदि कोई हिरण्यगर पद सबसे उपासना से श्रेष्ठ पद है अहंग्र उपासना करके समष्टि प्राण उपासना करने पर हिरण्यगर्भ रूप हो जाता है यह जो रूप है सारे के सर्व काम समाप्ति है जगत की प्रतिष्ठा है क्रतु हिरण्य उपासना का फल हिरण्य अनंत से अवे से पारम तो अं-, अंत नहीं होता है दीर्घ काल रहता है अवे के पराकाष्ठा अत्यंत स्तुत्य है महत्पद है विस्तीर्ण जिसकी गति है ऐसे प्रतिष्ठा को तुमने देख करके धृति से धरी के साथ अत्यंत त्याग कर दिया कहकर और तुम बहुत गुणवान हो तो हम तो काम से आपतिम समाप्तिम अत्र वही यैव सर्वे कामा परिसमाप्ति अत्र ही सर्वे कामा परिसमाप्ता एक गोपाल यतेंद्र टीका है उस टीका के अनुसार पाठ यहाँ अत्रैव यैव सर्वे कामा परिस अत्र ही सर्वे कामा है तो अत्रैव यहव ऐसा पाठ उस टीका के अनुसार भाष्य में अत्रैव का अर्थ ऐसे में सर्वे काम परिसमाप्ता हिरण्यगर्भ पद में सारे काम की समाप्ति जगत प्रतिष्ठा साध्यात्म अधिभूत अधिदेवादे प्रतिष्ठा आश्रय अध्यात्म अधिभूत अधिदेव साध्यात्म अध्यात्म के साथ अधिभूत अधिदेव जगत की प्रतिष्ठा मासे क्योंकि सर्वात्मक है क्रतो फलम क्रतो हिरण्यगर्भ उपासना का फल हिरण्यगर्भम पदम यही हिरण्यगर्भ पद ही है सब काम समाप्ति सबसे श्रेष्ठ फल है जितने कर्म उपासना करके स्वयं हिरण्यगर्भ पद को प्राप्त कर लेते हैं अनंत्यम का था अनंत्यम अनंत्य भी आपेक्षिक अनंत है वास्तव अनंत नहीं है वो पद कभी समाप्ति है समाप्त हो जाता है अभय से च पारम परानिष्ठा अनंत जो अभय से च पारम अनंत भी अभय का पार है भय रहित पद है स्तोमं का तो स्तुत्यम अरे महत है स्तोम महत अनिमादि ऐश्वर्य आदि अनेक गुण संगतम अनिमादि ऐश्वर्य युक्त है सारे ऐश्वर्य संपन्न है ब्रह्मा स्वरूप स्तोमं च तन्महत् च इति स्तोममहत् निरतिशयत्वा स्तोममहत् अत्यंत निरतिशय और स्तुति के योग्य अत्यंत श्रेष्ठ पद है रुगायम काते विस्तीर्ण गतिम रुत्वेन गीयते सर्वागमे रुरुत्वेन पूर्णत्वेन गेयम इति रुगायम स्वागम के इसको पूर्ण रूप से कहा जाता है हिरण्यगर्भ पद इसे कहा गया विस्तीर्ण गतिम उर्गा विस्तीर्ण गतिम ऐसे फल है प्रतिष्ठाम स्थितिम ये जगत की स्थिति है ब्रह्मांड की प्रतिष्ठा आत्मन अनुत्तमापि दृष्टवा अनुतम स्थिति है पद कोई सामान्य नहीं है ये समझ कर भी तुमने त्याग कर दिया धीरत्या धैर्य न धीर का था धीमान बुद्धिमान वही धीर है प्रलोभन से विचलित नहीं होता है थोड़े कुछ प्राप्त हुआ तो उसके पीछे चला गया लके छोड़ करके वो धीर नहीं अधीर है आत्म तत्व को धीर ही कच्ची धीर प्रत्येक आत्मा नमय चत प्राप्त कर सकता है जो विचलित नहीं होगा प्रलोभन से ये माया संसार में प्रलोभन बहुत है मिथ्या होने पर भी प्रलोभन बहुत है इसी के कारण तो काल से भटक रहा है अभी फिटी की चलते समय ऐसे प्रलोभन बहुत है ये प्रलोभन के कारण छोड़ दिया वो धीर नहीं है बह गया कहीं तुम धीर धीमान बुद्धिमान सन हे नचिकेत अत्यस्राक्षी अत्यस्राक्षी अत्यंत त्याग कर दिया तुमने सबको धैर्य के साथ यही धैर्य है लक्ष्य प्राप्ति के लिए सन्मार्ग में चलना लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए लक्ष्य को भूल करके कहीं किसी दूसरे पीछे चले गए गया बुद्धिमता नहीं है भले ही बहुत पूजा को प्राप्त कर ले धन इकट्ठी कर ले बुद्धिमता नहीं यदि लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया व्यर्थ हो गया छोड़ दिया कह स्तुति करते परमेव आकांक्षन ये कौन छोड़ सकता है ऐसा हिरण्यगर्भ पद सारे पद क्या त्याग सर्व त्याग अहंकार का भी त्याग कुछ नहीं चाहिए ये तभी होता है कश्चित धीर प्रत्येक आत्मानमयचत आवृत चक्षु अमृतत्वम इच्छन अमृतत्व जी को जो चाह इच्छा करता है वही आवृत चक्षु विषय का ग्रहण छोड़ करके परमात्मा प्राप्ति के लिए वही होता है मुमुक्षु वास्तव इसलिए ऐसे व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है परमेव आकांक्षा पर ब्रह्म की ही इच्छा करता हुआ पर ब्रह्म की ही इच्छा पर ब्रह्म की इच्छा और संसार की इच्छा ये दोनों इच्छा नहीं परमेव आकांक्षन अतिशिष्टवानसी अत्यंत उसमें छोड़ दिया त्याग कर दिया शिष्टवान अति अत्यंत एकदम छोड़ दिया आपने नहीं चाहिए सर्वमेत संसार भोग जातम सारे संसार भोग वर्ग में देता देना चाहता दिखा दिया सब सामने तो भी अत्यंत जा कर दिया अहोबत अनुत्तम गुण उसी अनुत्तम गुण ऐसे से अनुत्तम गुण तुम्हारे गुण अनुत्तम है अनुत्तम क्या समझ होगा हाँ, बहुबी का नाम नहीं तो अनुत्तम का तो निकट हो जाएगा न उत्तम अनुत्तम कहते तो निकट गुण ऐसा नहीं अविद्यमान उत्तम यस्मात् जिससे उत्तम और यही नहीं ऐसा अनुत्तम गुण अनुत्तम अनुत्तमा गुणायस्य तुम्हारे गुण अनुत्तम ऐसे गुण से अधिक गुण है ही नहीं अत्यंत श्रेष्ठ गुण वाला तुम हो कह करके फिर स्तुति करते हैं टीका में यस्य तोया देह व्यतिरिक्त आत्मा पृष्ठस्तस्यैव परमात स्वरूप ज्ञानम संसार निवर्तकम परमानंद प्राप्ति साधनम धर्मम च नात परम से साधनम पृष्ठस्य वस्तुन प्रशंसया च प्रष्टारम प्रशंसति फिर प्रष्टा नचिकेता की प्रशंसा जिस वस्तु के विषय में तुमने पूछा वस्तु की प्रशंसा करते हैं प्रश्न प्रश्न का विषय प्रष्टव्य प्रष्टव्य जो वस्तु है आत्म तत्व उसकी स्तुति करके प्रश्न करता की स्तुति तुमने जिस विषय को प्रश्न किया वो विषय सामान्य नहीं है ऐसा कह करके प्रष्टा की स्थिति हो जाती पूछने वाला की यश्च त्वया देह व्यतिरिक्त आत्मा पृष्ठ देह से अतिरिक्त आत्मा अस्ति ते के नायम अस्ति चे अन्य अके देह से बिना आत्मा के विषय पूछा और उससे आत्म तत्व का परमात्म स्वरूप ज्ञानम संसार निवर्तकम वही परमात्म स्वरूप है वास्तव सत्य ब्रह्म है उसका ज्ञान सम्य ज्ञान संसार का संसार का निवर्तकम संसार का निवर्तक था सारे संसार दुख का निवर्तक अत्यंत निवर्तक संसार दुख जितने अनादिकाल से दुख है जन्म मरण आदि चक्र है उसका निवर्तक ही आत्मस्वरूप का ज्ञान पारमार्थिक ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान परमानंद प्राप्ति साधनम संसार दुखों का अत्यंत के निवृत्ति का साधन परमानंद प्राप्ति मोक्ष का स्वरूप है परमानंद प्राप्ति और दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति संसार निवर्तक कौन से संसार सारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति उसका साधन है ज्ञान और परमानंद की प्राप्ति का साधन भी ज्ञान है परमानंद की प्राप्ति भी गौण प्रयोग है अप्राप्त की प्राप्ति नहीं नित्य प्राप्त की प्राप्ति गौण प्रयोग उपचार जो प्राप्त है उसकी फिर प्राप्ति क्या है प्राप्त होने पर भी भ्रम हो गया अप्राप्त माला गले में है भ्रम हो गया नहीं है अप्राप्ति भ्रम हो गई ज्ञान होते ही माला मिल गई गल में थी अभी भी गल में है पहले भी गल में थी ज्ञान नहीं था अभी ज्ञान हो गया तो प्राप्ति हो गई इसी प्रकार संसार परमानंद प्राप्ति का साधन है ज्ञान ज्ञान होने से परमानंद प्राप्ति हो जाती है परमानंद प्राप्ति पहले से है ज्ञान होते ही अप्राप्ति भ्रम निवृत्त हो जाता है तो प्राप्त हो गया प्राप्ति हो गई ऐसे कहते हैं परमानंद प्राप्ति का साधन धर्म्यम च धर्म से हो प्राप्त होता है धर्म्यम परमानंद साधन होने से ही परम धर्म रूप है और कोई भी सुख धर्म से ही प्राप्त होता है सुख तो पुण्य कर्म का फल है ये भी परमानंद स्वरूप होने से धर्म्य धर्म प्राप्त है धर्म्यम नात परम से साधन मस्ति वो परमार्थ साधन जो तुमने पूछा आत्मा विषय का प्रश्न उसका वास्तव स्वरूप ज्ञान की अपेक्षा दूसरा कोई श्रेय साधन है ही नहीं कल्याण साधन मुख्य के साधन ज्ञान है ज्ञान से तो कोई कल्याण साधन कल्याण प्राप्ति का साधन दूसरा है ही नहीं है नात परम से साधन थी पृष्ठ से वस्तु न प्रशंसया पृष्ठ जो वस्तु आत्मा तत्व तो उसकी प्रशंसा करते हुए विषय प्रश्न प्रश्न का विषय की प्रशंसा करने से प्रष्टारम प्रशंसति इसकी प्रशंसा से पूछने वाले नचिकेता की प्रशंसा करते फिर यमराज तम दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गहरिष्ठम पुराणम अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोको जाति तम दुर्दर्शन दुख से दर्शन होता है दुर्दर्शन दुख मतलब अत्यंत प्रयत्न करना पड़ता है अभ्यास दीर्घ निरंतर साधन कर्म से साक्षात्कार होता है गूढ़म गहन सामान्य बुद्धि वाले को दिखता नहीं ज्ञान नहीं होता है गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहा में स्थित हो गया छिपा हुआ जैसे गुहाइतम बुद्धि रूप गुहा में स्थित है गह्वरिष्ठम गहवर में अत्यंत अनर्थ संकट स्थल में स्थित है पुराणम पुराने पूरा होने पर भी नया है पुराणम पुरा पुरा भी नव अध्यात्म युग आदि का में न देवमत्वा अध्यात्म युग चित्त को बाहर विशेष हटा करके आत्मा में लगाना उसे देव को मत्व ज्ञान प्राप्त करके हर्षस को जहाती हर्षस को दोनों को छोड़ देता है यहाँ साधन थोड़ा बता देते हैं अध्यात्म योग अधिगम उसे मत्व ज्ञान प्राप्त करने से ही हर्ष की निवृत्ति कम शोकम को जहाती विषय सुख दुख पुण्य पाप का फल है तो दोनों ही मुमुक्षु के लिए त्याज्य है विषय सुख भी नहीं चाहता है दुख तो नहीं चाहता है स्वर्ग आदि ब्रह्मलोक तक सुख भी नहीं चाहता है तो मुमुक्षुत्व है ऐसे धीर इसको प्राप्त करके सब हर्ष रहित हो जाता है आत्म तत्व ऐसा प्रष्टव्य आत्म तत्व की स्तुति करके प्रष्टा की स्तुति कर देते हैं ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु